been इसके माध्यम से ईश्वर का ध्यान भक्ति होती है अब आप मौन रहिए और यज्ञशाला में पहुंच गए सामान्य रूप से उतने काल तक हम कितने श्वास प्रश्वास ले सकते थे वो श्वास प्रश्वासों की जो गिनती होगी उसका नाम है संख्या जैसे कल्पना कीजिए हम एक मिनट में बारह सांस लेते हैं और छोड़ते हैं आप लोग सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्ष के पूरी हो इसी वेद उपासना साधक और साधिकाओं इस मंत्र में प्रमुख रूपेण बात कही गई कि क्या ये वेद ये ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं अर्थात वेदों का ज्ञान मनुष्यों को ईश्वर ने दिया शब्द प्रमाण से अतिरिक्त ऊहा तर्क से सोचना दर्जनों हजारों पदार्थ बने हुए दिखाई देते कुआ से हम सोचते हैं कि ये बिना बनाने वाले सर्वज्ञ के सर्वशक्तिमान के ये पदार्थ नहीं बन सकते ये कुआ से सोचने का ढंग तर्क से सोचने का ढंग जिस प्रकार से बिना बनाने वाले की ये संसार नहीं बनता उसी प्रकार से कोई ज्ञान देने वाला न हो तो व्यक्ति विद्वान भी नहीं बन सकते इस तर्क में दूसरा तर्क क्या उठा सकता है कोई वो उठाया जा सकता है कि बिना पढ़ाने वाले के भी व्यक्ति विद्वान बनता है कोई ऐसा कह सकता है पर ये लोक से सिद्ध नहीं होता है जब तर्कों से बात चलती है अनुमान प्रमाण से बात चलती है तो न्याय दर्शन के आधार पर पंचवयों का प्रयोग करना पड़ता है पंचवयों से जो बात सिद्ध होती है उसको मान लिया जाता जो व्यक्ति ये कहता है ये व्यक्ति बिना पढ़े लिखे विद्वान बन गया अपने आप इसको पंच अवयों से सिद्ध नहीं किया जाता एक उदाहरण है आज जितने विद्यालय चलते हैं लाखों भूगोल में उसमें पढ़ाने वालों के माध्यम से व्यक्ति विद्या पढ़ता है स्वतः विद्यार्थी विद्या नहीं पढ़ते छोटे बच्चे को मां सिखाती है पढ़ाती है वो पढ़ता है कुछ बड़ा होने को पिता सिखाता है पढ़ाता है फिर अध्यापक पढ़ाते सिखाते हैं अर्थात विधि विधान पूर्वक पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं पढ़ने वाले पढ़ते हैं तब विद्वान बनते हैं बिना पढ़ाने वाले के कोई विद्वान नहीं बनता जब सृष्टि के प्रारंभ में कोई माता पिता नहीं था कोई आचार्य नहीं था तो उसके बिना ये मनुष्य कैसे विद्वान बन गए इसका कोई उत्तर नहीं है ईश्वर पढ़ाता है विद्या देता है यही इसका उत्तर है संबंध में कुछ परीक्षण भी किए होंगे लोगों ने अकेले बालकों को जंगल में रख के देखा कुछ न सिखाओ उनको कुछ न पढ़ाओ वो पशु की तरह घूमते रहते कुछ भी तो नहीं आता आप आप छोड़ के देख लो पैदा होते ही जंगल में छोड़ दो जीने के लिए उसको पानी देना रोटी दे, दे देते रहना कुछ बोलना नहीं उसको अब देखना वो कैसे विद्वान बनता है विद्वान नहीं बनता इसलिए ईश्वर जैसे पदार्थों को बना के हमारे उपयोग के लिए देता है इसी के साथ साथ उस ईश्वर का संविधान वेद भी प्रयोग के लिए देता है किन्हीं पदार्थों को दे देना और उसके लिए विद्या में देना ये बात पूर्ण नहीं कही जाती हमको इतने पदार्थ तो दे दिए बना के ईश्वर ने उनके प्रयोग करने की विद्या नहीं दी तो ये कार्य ईश्वर का पूरा नहीं माना जाता पदार्थ भी दिए उसके साथ साथ प्रयोग करने के लिए विद्या भी दी ईश्वर ने इसलिए ऋषि स्पष्ट मानते हैं पूर्व शांति गुरु काले निर्वक्षेगा योग दर्शनकार पतंजलि कहते हैं पूर्व शांति गुरु काले निर्वक्षेगा पूर्वेश्वरमती गुरु जितने भी सृष्टि के आदि से लेके महान तत्ववेता हुए वैज्ञानिक हुए ऋषि हुए योगी हुए पूर्व सहमति उनका भी वो गुरु है आज भी जो विद्वान है उनका भी ईश्वर गुरु है आगे जो विद्वान होंगे उनका भी ईश्वर गुरु है तीनों काल में जितने गुरु हैं गुरुओं का गुरु है ध्यान दें जो हमारे पास में ये वेद की पुस्तकें चार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनका नाम भी वेद है इन मंत्रों संगीताओं का ग्रंथों का नाम भी वेद है और ये मंत्र और जो ज्ञान नामक गुण है ईश्वर का अपना उसका नाम भी वेद है आपको क्या समझ में नामक गुण है उसका नाम भी वेद है हम्म। और जो मंत्र हैं चारू वेदों के इन सब का नाम भी वेद एक गणित का अध्यापक कुछ संविधान विद्यार्थी को लिखाता है ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करने से ऐसा निकलेगा ये जोड़ ये घटा ये होगा वो होगा वो पुस्तक होती है तो पुस्तक को हम गणित की पुस्तक कहते हैं ये गणित की पुस्तक है हिसाब की पुस्तक है पुस्तक का नाम भी वो गणित ही है और जो अध्यापक जानता है जो पढ़ाता है वो भी गणित है क्या समझे आप अध्यापक के जो दिमाग में गणित नाम की विद्या है उसका नाम भी गणित है हिसाब है और पुस्तक में जो पंक्तियों में लिखी गई वो भी पर ये तो अक्षर है शब्द है इनके द्वारा उसका वर्णन किया जाता है इसलिए इसको गणित कहते हैं वास्तविक गणित तो अध्यापक के दिमाग में तो दोनों का नाम वेद है वेद नाम ज्ञान का है वेद नाम पुस्तक का है ये जो विश्व आपको बना दिखाई दे रहा ये वनस्पति ये मनुष्य का शरीर ये पत्थर पता ये दूसरे जो धातुएं हैं कितनी आप याद रखें एक तो पुस्तक होती है जिन्होंने संविधान लिखा हुआ होता है ये सारा का सारा किसी न किसी विज्ञान से बनाया गया है क्या समझे आप सूर्य बनाया चंद्रमा नक्षत्र पृथ्वी सोना चांदी वनस्पति हजारों चीजें बनाई आप ध्यान देंगे वो बिना ज्ञान के लिए बनाई गई अर्थात ज्ञान के माध्यम से सोना नाम की चीज बनाई ज्ञान के द्वारा ही तांबा नाम की धातु बनाई ज्ञान के माध्यम से ये अंगूर और ये रात की रानी इनके बीज बनाए गए जितनी भी चीजें रची गई हैं वो ज्ञान के माध्यम से रची गई तो जिस ज्ञान के माध्यम से चीजें रची गई उस वेद का देने वाला रखने वाला ईश्वर है जिस ज्ञान विज्ञान से ये चीजें बनाई गई रचना हुई वो वेद है और उसका देने वाला पढ़ाने वाला ईश्वर है कई बार तर्क की बात आ जाती है हम वेद के मानने वाले ये कहते हैं कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है अपने आप कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बने हम ये मानते हैं विकासवादी ये कहते हैं ज्ञान का विकास स्वतः हुआ है अपने आप सृष्टि का विकास भी अपने आप हुआ है पहले ये बना फिर वो बना फिर वो बना अपने आप हुआ है प्राणियों के शरीरों की रचना अपने आप हुई और ज्ञान विज्ञान भी स्वतः विकसित हुआ है इस विषय में तर्क उठाया जाता है वो न्याय दर्शन के पंचवय पर चलेगा ध्यान देना होगा तो प्रसंग ये है जब सृष्टि नहीं बनी थी तो वो ज्ञान विज्ञान कहां पर रहता था इसका उत्तर उनसे पूछ लो उत्तर दे नहीं पाए क्या पूछा हमने उनसे जो सृष्टि नहीं बनी थी इतना अनंत ज्ञान जिसे रचना हुई है ये ज्ञान कहां पर रहता था जहां से विकास हुआ है भौतिक वैज्ञानिक ये मानते हैं पहले चीज विद्यमान होगी वही निश्चित होती है हाँ। क्या समझे आप सोने नहीं लग जाना सोने के लिए नहीं आए यहां सीखने के लिए आए आगे से हो गए कुछ आंख फूट देगी वैसे मची जाती है कुछ उसको नींद आ जाती है कान वैसे हैं बचे कुछ कपड़े से ढक लेते हैं उनको ठंड लग रही है और सारा उठ जाएगा तो एक भी बात याद घर वाले पूछेंगे क्या सीखा कि हाँ, हम बताया तो था कुछ ऐसे विज्ञानी यहां की मिलने के लिए नहीं आते यहां पुरुषार्थ करो एक एक बात कितना मूल्य रखती है इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप समस्याओं का समाधान है मैंने क्या पूछा था उनसे ये पूछो क्या पूछो जिस समय सृष्टि की रचना हुई उस समय ये ज्ञान विज्ञान विद्यमान था या नहीं तो वैज्ञानिक कहेगा कि था और तो कुछ नहीं कह सकता ये नहीं कह सकता नहीं था नहीं था कहते ही आएगा अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी फिर तब गीता में चर्चा फिर सांख्य में यही चर्चा क्या चर्चा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती और भाव से अभाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती इसे क्या समझे आप अब भाषा समझ में आती नहीं वो वाक्य बनाना आता नहीं देखते रहो कबूतर की तरह जो चीज है नहीं अभाव है उससे है पैदा नहीं होता पहले कुछ नहीं था रुई नहीं थी कपास नहीं थी कपड़ा हो गया ये है अभाव से भाव की उत्पत्ति आ गया समझ में नहीं आया कोई कपास नहीं थी रुई नहीं थी धागा नहीं था ये सौरिया बना दिया इसको कहेंगे अभाव से भाव की उत्पत्ति ये कभी नहीं होता वैज्ञानिक भी यही मानते हैं ऋषि भी यही मानते अब इसको जला दो राख बना दो ये भाव है सत्तात्मक पदार्थ है इसको जला दो राख बना दो कुछ भी है तो बम डाल दो इसके ऊपर भाव है परमात्मा भी इसका अभाव पैदा नहीं कर सकता वैज्ञानिकों की तो बात क्या है क्या समझ में आया दौड़ा दो कम से कम तौलिए का भाव है इसके अभाव को पैदा करने की शक्ति किसी बनेगी दोनों ही अटल सिद्धांत में जो चीज नहीं है उसको है में नहीं बदला जा सकता जो है उसमें नहीं है में नहीं बदला जा सकता परमात्मा भी नहीं बदला सकता मुझे बताया अब ध्यान जिन्हें ज्ञान विज्ञान था तभी तो उद्बुद्ध होकर आया मानना पड़ेगा इसे सारे वैज्ञानिक मानते हैं भाई अभाव से भाव तो होता नहीं अब प्रश्न आगे खड़ा हुआ वो जो ज्ञान था तो किसके सहारे से रहता था अब क्या समझ में आया बोलो ज्ञान कहा रहता था भाव कहा रहता था ज्ञान रूपी भाव कहा रहता था ज्ञान कहां पर रहता था अच्छा आजकल ज्ञान कहां रहता है उत्तर आप पता नहीं है उत्तर साथ साथ आना चाहिए ना बताओ कहाँ रहता है जीवात्मा में रहता है अध्यापकों में रहता है प्रोफेसरों में रहता है इंजीनियरों में रहता है चेतन तत्व में रहता है जड़ों में तो नहीं रहता यह रहता जड़ों में शब्द अलग चीज है ज्ञान अलग चीज है दोनों का अलग अलग विभाग बनाओ ये शब्द है ओ ये भी शब्द है शब्द अलग चीज है ज्ञान अलग चीज है ज्ञान चेतन व्यक्तियों रहता है या नहीं जड़ों में तो अब जीवात्मा तो उस समय ऐसे लुट के पड़े थे मूर्छित थे तो उनमें तो ज्ञान विज्ञान था नहीं ये जो सारा अब ये बताइए वो ज्ञान रहता कहां से था जो अनंत ज्ञान दिखाई दे रहा है बस ये है ज्ञाता के सारे ज्ञान रहता है ज्ञाता ईश्वर है चेतन ईश्वर है सृष्टि से पहले वो ज्ञान ईश्वर के सारे से रहता है ये संगति है बिल्कुल ईश्वर के सारे से ज्ञान रहता था और ईश्वर ने फिर ऋषियों को दिया ऋषियों ने आगे बढ़ाया आगे अध्यात्म या आयुर्वेद या जितने भी भौतिक विज्ञान है आज भी याद रखना जितना ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है वो परमात्मा की ही देन है भौतिक विज्ञान जितना है वो सब परमात्मा की देन है प्रसंग वही है जीवात्मा अपना स्वाभाविक ज्ञान इतना कम रखता है इतना थोड़ा रखता है उसे कुछ भी नहीं होता जीव में भी स्वाभाविक ज्ञान है आत्मा में भी स्वाभाविक अपना व्यक्तिगत उदाहरण कैसे समझ में आएगा मुझ में बल है शक्ति है पर मैं शरीर के सारे जो काम करता हूं शरीर ना हो तो मैं ऐसे बाका टेगा भी नहीं हो सकता कि मेरा बल केवल इतना ही है क्या समझे आप क्या समझ माया बोल फल है स्वाभाविक भाई इतना थोड़ा है इतना थोड़ा है इस शरीर के बिना टस से मत नहीं हो सकता उस बल से क्या होगा शरीर स्वस्थ शरीर मिलता जब दौड़ करता हूं ये करता हूं वो करता हूं बीस काम करता हूं सभी करते कब जब शरीर का बल मेरे बल के साथ जुड़ता है नैमित्तिक कुछ तो समझ वाली बात इसी प्रकार से व्यक्ति का ज्ञान इतना कम है इतना कम है बुद्धि होने पर नाड़िया देने पर कान नाक ठीक होने पर वो किसी की बात को समझ सकने में समर्थ होता है अपना ज्ञान इतना न उससे व्यवहार से धोता न मुक्ति से धोती अपने ज्ञान इतना ज्ञान है अपना व्यक्तिगत परमात्मा उसको ज्ञान देता है तब वो व्यवहार को सिद्ध करता है और मोक्ष तक पहुंच जाता है ऐसा समझना चाहिए ये जो कठिनाई है पता चलेगा ईश्वर ज्ञान देता है अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आजकल भी देता ईश्वर ज्ञान या नहीं अच्छा ये प्रसंग उठता कि देता कैसे है ये तो बात आती है ना तो देता कैसे है क्योंकि यहां तक मैं वाणी से बोलता हूं अपने आचार्य पढ़ाते हैं आप पढ़ते हैं योगेश चित्रवृत्ति ने रोधा रोग का अर्थ है को रोकना वो वाणी से बोलता जाता है वो सुनते जाते हैं अथ योगानुशासनम प्रत्यय पंचतः कृष्टा कृष्टा वो पढ़ाता जाता है अब भगवान के लिए पढ़ाता है हम्म? उदाहरण बताओ कोई कोई भी बुरा कार्य करते हैं उसका संकेत होता है तो कि ये नहीं करना चाहिए कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हर्षित मतलब हर्ष होता है ये करना चाहिए अच्छा ये लोहा जो है अग्नि में डाला हुआ वो अग्नि को कैसे पकड़ता है उसमें अग्नि के परमाणु चले जाते हैं तो क्या पता चला इससे परमाणुओं में जगह है और अग्नि के परमाणु उससे चले जाते हैं अग्नि में वो है लोहे के गोले में अग्नि का गुण प्रकाश और गर्मी पकड़ ली जैसे लोहे का गोला जो अग्नि पकड़ता है प्रकाश भी पकड़ता है ऐसे ईश्वर व्यापक रूप से जीव की आत्मा में ज्ञान देता है अथवा यह व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है उसको क्या करते हैं अब तो याद कर लो भाई बीमार तो हुए होंगे ग्लूकोज ग्लूकोज वो रहता है जैसे मूर्छित जैसे होता है ग्लूकोज चढ़ा देते हैं उनको पता भी नहीं चलता जैसे वो ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है जैसे भगवान ही इसको जीवात्मा की आत्मा का ज्ञान विज्ञान चढ़ा देता उनको कोई मुश्किल नहीं पड़ती कुछ समझ मा है जी ग्लूकोज देखिए ईश्वर सर्वव्यापक है जीवात्मा व्याप्ति है और ईश्वर अंतर्यामी अंदर रह करके जीवात्मा को ज्ञान विज्ञान देता है किसी व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए बोलने की आवश्यकता पड़ती है ऊंचा बोलने की जो दूर हो देश की दूरी के कारण क्रिया करनी पड़ती है आवाज लगानी पड़ती है कुछ हाथ पर हिलाने पड़ते हैं ईश्वर सर्वव्यापक होने से उसको कोई देशांतर क्रिया नहीं करनी पड़ती बाहर के उपकरणों का साधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती अनप शक्ति वाला वाला